तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं 1966 जब अनुतुक्सा के साथ मेरा अनुबंधन समाप्त होने का तारीख करीब आई तो मैं हर दिन डाक को गौर से देखता था मैं उनके उस पत्र की उम्मीद करता था जिसमें यह लिखा हो कि वे नवीकरण करना चाहते हैं या वे नहीं करना चाहते किसी भी तरह की निश्चिकता से राहत मिली जाहिर है मैं सारा के पत्र की भी उम्मीद कर रहा था जिसमें यह लिखा हो कि उसने अपना इरादा बदल दिया है और वे हमेशा की तरह मैं अपने बैंक के पत्र के लिए भी दिल मजबूत किए बैठा था जिसमें यह लिखा हो कि मेरे व्यवसाय का अब वह स्वागत नहीं होता लेकिन हर दिन जो केवल पत्र आते थे वे जॉनसन के ही आते थे बवरमैन की तरह ही यह बंदा भी मानो कभी नहीं सोता था कभी नहीं मुझे कोई दूसरा स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया जिसकी वजह से वह इतना निरंतर धारा प्रवाह पत्रचार कर सकता हो पत्रों की ज़्यादातर बातें तो बेतुकी थीं ढेर सारी ऐसी जानकारी थी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी जॉनसन के सामान्य पत्र में कई लंबे कोष्टक वाली परोक टिप्पणियाँ शामिल होती थी और किसी तरह का लंबा चुटकुला भी हाथ से खींचा गया कोई रेखा चित्र भी हो सकता था कोई गीत भी हो सकता था कई बार तो कविताएं भी होती थीं उसका टाइपराइटर प्याज के छिलके जैसे पन्नों पर हिंसक रूप से लिखता और जॉनसन के कई पत्रों में कोई कहानी भी होती थी शायद नीति कथा एक बेहतर शब्द होगा कैसे जॉनसन ने उस आदमी को एक जोड़ी टाइगर शूज बेचे लेकिन बाद में उस आदमी ने कहा कि उसे इतनी जोड़ी जूते और चाहिए इसलिए जॉनसन के पास एक योजना थी कैसे जॉनसन ने अमुक अमुक हाई स्कूल के हेड कोच का पीछा किया और उसे तंग किया और उससे छह जोड़ी बेचने की कोशिश की थी लेकिन द अंत में उसने एक दर्जन जूते खरीदे थे जिससे यह पता चला कि अक्सर जॉनसन पूरे दर्शक विस्तार में उस नवीनतम विज्ञापन के बारे में बताता था जो उसने देखा था कि वह लॉन्ग एंड स्टेंट लॉन्ग या ट्रैक के एंड फील्ड न्यूज के पिछले पन्ने पर दोनों की सोच रहा था यह वह टाइगर शू के एक फोटो का वर्णन करता है जिसे उसने इस विज्ञापन में शामिल किया था उसने अपने मकान में एक चलाऊ फोटो स्टूडियो बना लिया था और वह सोफे पर एक काले स्वेटर के पास जूते रखकर लुभाने अंदाज में फ़ोटो लाता था यह एक तरह से जूतों का फॉर्म जैसा था लेकिन मैं उन पत्रिकाओं में विज्ञापन देखने में कोई तुक नहीं देख पाया जिसमें केवल दौड़ने वाले लोग पढ़ते हैं मैं विज्ञापन में ही कोई तुक नहीं देख पाया लेकिन जॉनसन को उसमें मजा आ रहा और उसने कमर कसकर कहा कि विज्ञापन अच्छी तरह काम कर रहे हैं इसलिए मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ जॉनसन का आम पत्र हमेशा किसी शिकायत या चुटकुली या पेन आग्रह पर ख़त्म होता था जिसमें यह बताया जाता था कि मैंने उसके पिछले पत्र का जवाब नहीं दिया था और उसके पिछले पत्र का भी और फिर एक पुन निश्चित होता था और आमतौर पर दूसरा पुण्य निश्चित भी होता था और कई बार तो ढेर सारे पुण्य निश्चित होते थे फिर उत्साहवर्धक शब्दों के लिए एक आखिरी आग्रह होता था जिसमें मैं कभी नहीं भेजता था मेरे पास उत्साहवर्धक शब्दों के लिए समय नहीं था उसके अलावा यह मेरी शैली में भी नहीं थी अब मैं पीछे पलटकर देखता हूँ और हैरान होता हूँ कि क्या मैं सचमुच अपने आलसी स्वरूप में था या फिर मैं बवरमैन या अपनी डैडी या दोनों का अनुसरण कर रहा था क्या मैं मितभाषी नकाब को ओढ़ रहा था क्या मैं उन लोगों के नक्शे कदम पर चल रहा था जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ उस वक्त मैं हर चीज पढ़ रहा था मैं सेनापति समुराय शोगन के बारे में पढ़ रहा था इसके अलावा अपने तीन मुख्य नायकों की जीवनियां भी पढ़ रहा था चलचिल कैनरी और ताज था मैं हिंसा से प्रेम नहीं करता था लेकिन मैं कठोर परिस्थिति में नेतृत्व या उसके अभाव पर मंत्रमुक्त था युद्ध बेहतर कठोर स्थिति है लेकिन व्यवसाय भी युद्ध जैसा हो सकता है किसी ने कहा है कि व्यवसाय बिना गोलियों वाला युद्ध है और मैं उसकी बात से सहमत था मैं इतना अनूठा नहीं था पूरे इतिहास के मनुष्य युद्ध में हॉविंगो के बुनियादी गुणों की तलाश करता रहा जो बदलाव में शिष्टता कायम करें नायकों के बारे में अपने घर की पढ़ाई में मैंने एक सबक यह सीखा कि ज्यादा नहीं बोलते थे उनमें से कोई भी वाचाल या बड़बोला नहीं था कोई भी सूक्ष्म प्रबंधन नहीं था लोगों को यह बात मत बताओ कि चीजें कैसे करना है उन्हें बताओ कि क्या करना है और वे परिणाम से आपको हैरान कर देंगे इसलिए मैंने जॉनसन के पत्रों का जवाब नहीं दिया और मैंने उसे तंग नहीं किया उसे क्या करना है यह बताने के बाद मैंने यह उम्मीद की कि वह मुझे हैरान करे शायद खामोशी से जॉनसन को उस बात का श्रेय देना होगा कि हालांकि वह ज़्यादा संवाद की चाहत रखता था लेकिन उसकी कमी से वह कभी हताश नहीं हुआ उसके विपरीत वह उससे ज़्यादा प्रेरित हुआ वह वाचाल था उसे एहसास था कि मैं ऐसा नहीं था और हालांकि उसे शिकायत करने में आनंद आता था लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि मेरी प्रबंधन शैली से उसे स्वतंत्रता मिल रही थी वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है इसलिए उसने असीम सृजनता और ऊर्जा से प्रतिक्रिया दी वह सप्ताह में सातों दिन काम करता था ब्लू रिबन का सामान बेचता था तथा उसका प्रचार करता था और जब वह बेच नहीं रहा होता तो वह उर्दविलाव के अंदाज में अपने ग्राहक की डाटा फाइलें बनाता था हर नए ग्राहक को उसका खुद का इंडेक्स कार्ड मिल जाता था और हर इंडेक्स कार्ड में उस ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी जूते का नाप और जूते की पसंद शामिल होती थी इस डाटाबेस की मदद से जॉनसन अपने सभी ग्राहकों से सारे समय संपर्क कर सकता था और उन्हें खास महसूस करा सकता था वह उन्हें क्रिसमस कार्ड भेजता था वह उन्हें बर्थडे कार्ड भेजता था कोई बड़ी दौड़ या मैराथन जीतने पर वह उन्हें बधाई संदेश देता था जब भी मुझे जॉनसन का पत्र मिलता था तो मैं समझ जाता था कि उन दर्जनों पत्रों में से एक जिन्हें लेकर वह डाकघरों तक गया होगा उसमें सैकड़ों ग्राहक पत्र मित्र थे पूरी मानवता के प्रतिनिधि जिसमें हाई स्कूल के ट्रैक स्पोर्ट से लेकर अस्सी साल के वीकेंड जॉगर तक शामिल थे कई लोग तो जब अपने मेल बॉक्स से जॉनसन का एक पत्र और निकालते होंगे तो वे भी वही बात सोचते होंगे जो मैं सोचता था इस आदमी को इतना समय कैसे मिल जाता है बहरहाल मेरे विपरीत ज्यादातर ग्राहक जॉनसन के पत्रों पर निर्भर रहने लगे ज्यादातर उसे जवाब देते थे वे उसे के जीवन उनकी मुश्किलें उनकी चोटों के बारे में बताते थे और जॉनसन उदारता से उन्हें संवनता देता था सहानुभूति प्रदान करता था और सलाह देता था खासतौर पर चोटों के बारे में 1960 के दशक में बहुत कम लोग दौड़े या कूद के चोटों के बारे में जानते थे इसलिए जॉनसन के पत्र अक्सर ऐसी जानकारी से भरे रहते थे जो किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती थी मैंने जिम्मेदारी या दायित्व के मुद्दे पर कुछ समय सोचा मुझे यह चिंता भी हुई कि किसी दिन मुझे यह पत्र मिलेगा कि जॉनसन ने एक बस किराए पर ले ली है और उन सभी को डॉक्टर के पास ले जा रहा है कुछ ग्राहक खुलकर टाइगर जूते के बारे में अपनी राय स्वच्छ दक्षता से बताते थे इसलिए जॉनसन ग्राहक की उस फीडबैक को इकट्ठा करने लगा और उसका इस्तेमाल करके नए डिजाइन स्केच करने लगा मिसाल के तौर पर एक ग्राहक ने शिकायत की कि टाइगर के समतल जूतों में पर्याप्त गद्दी नहीं है वह बोस्टन मैराथन दौड़ना चाहता था लेकिन यह नहीं सोचता था कि टाइगर 26 मील तक टिक पाएगा इसलिए जॉनसन के एक स्थानीय मोची की मदद से शावर शूज से रबड़ के सोल निकलवाकर टाइगर के समतल जूतों में लगा दिए गए कमाल जब जॉनसन के समतल जूतों में अंतरिक्ष युग की पूरी लंबाई की सोल की बीच की गद्दी जॉनसन का यह नवविचारी सोल इतना बढ़िया था इतना नरम था इतना नया कि जॉनसन के ग्राहक ने बोस्टन में अपना व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया जॉनसन ने मुझे परिणाम भेजकर आग्रह किया कि मैं उन्हें टाइगर को बेच दूँ बवरमैन ने कुछ सप्ताह पहले अपने नोटिस के समूह के साथ भी यही करने को कहा था हे भगवान मैंने सोचा इन दोनों के बीच में अटक गया हूँ एक बार एक ही पागल जीनियस बहुत था कभी कभार मैं जॉनसन को उसके पत्र मित्रों की बढ़ती सूची के बारे में चेतावनी देने के बारे में सोचता था ब्लू रिबन को केवल तेरह पश्चिमी राज्यों तक ही सीमित रखना था लेकिन पूर्वकालिक कर्मचारी नंबर वन ऐसा नहीं कर रहा था जॉनसन के सैतीस राज्यों में ग्राहक थे जिसमें पूरा पूर्वी तट शामिल था जो मॉलबेर्गो मैन का इलाका था मॉलबेर्गो मैन अपने इलाके में कुछ नहीं कर रहा था इसलिए जॉनसन की घुसपैठ हानि रहित दिख रही थी लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि जॉनसन का अतिक्रमण उसे नवगवार गुजरे फिर भी मैंने कभी जॉनसन को अपनी चिंताएं नहीं बताई हमेशा की तरह मैंने उससे कुछ नहीं कहा गर्मी की शुरुआत में मैंने यह निर्णय लिया मेरे माता पिता का बेसमेंट इतना बड़ा नहीं है कि ब्लू रिबन का मुख्यालय बन सके और नौकरों का क्वार्टर मेरे हिसाब से अब छोटा पड़ने लगा था लेकिन मैंने एक आधुनिक नई अटलिया में एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लिया किराया 200 डॉलर था जो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था खैर मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी किराए पर ली टेबल कुर्सियाँ किंग किंग साइज बेड जैतूनी रंग का सोफा और उन्हें अच्छी तरह जमाने की कोशिश की यह बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था लेकिन मुझे परवाह नहीं थी क्योंकि मेरा असली फर्नीचर तो जूते थे मेरा पहला बैचलर निवास स्थल फर्श से छत तक जूतों से भरा था मेरे मन में यह रोचक विचार भी आया कि जॉनसन को अपना नया पता नहीं दूं लेकिन मैंने दे दिया निश्चित रूप से मेरा नया मेल बॉक्स पत्रों से भरने लगा return address P O box four ninety two Seal Beach C nine zero seven four zero जिसमें से किसी का भी मैंने जवाब नहीं दिया फिर जॉनसन ने मुझे दो पत्र लिखे जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था पहले तो उसने यह बताया कि वह भी घर बदल रहा है वह और उसकी पत्नी अब अलग अलग हो रहे हैं उसकी योजना यह थी कि वह उसकी योजना यह थी कि वह सील बीच पर ही रुका रहे लेकिन एक छोटा बैचलर अपार्टमेंट ले रहा था कुछ दिनों बाद उसने यह लिखकर बताया कि वह एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया यह सुबह सुबह सेन वर्डिनोस के उत्तर में हुआ वह एक रोड रेस में जा रहा था वह एक रोड रेस में जा रहा था जहाँ वह दौड़ना भी चाहता था और टाइगर जूते बेचना भी चाहता था उसने लिखा कि शायद कार चलाते समय उसकी आंख लग गई थी और जब वह जगा तो उसने खुद को और अपने कंपनी 1956 की फॉक्स वैगर बग को हवा में लटकी स्थिति में पाया वह डिवाइडर से टकराया फिर लुढ़का फिर कार से उड़ा और उसके ठीक बाद कार लुढ़कती हुई किनारे की रेलिंग तोड़कर नीचे चली गई जब जॉनसन का शरीर आखिरकार लुढ़कना बंद हुआ तो वह अपनी पीठ पर था आसमान की ओर देख रहा था उस उसकी हंसली पैर और खोपड़ी सभी जबरदस्त चोटिल हो गए थे इससे भी बुरी बात चूंकि उसका अभी अभी तलाक हुआ था इसलिए बाद में उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था इन सारी विपत्तियों के बावजूद जॉनसन खुशनुमा था उसने मुझे कई उत्साही पत्रों में आश्वस्त किया कि वह अपने सभी दायित्व पूरे कर रहा है वह अपने नए अपार्टमेंट में खिसक कर चलता है ऑर्डर पूरे करता है जूते बेचता है सभी ग्राहक से तत्वरिक पत्र व्यवहार करता है एक मित्र उसकी डाक ला रहा था इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी पीओ बॉक्स 1492 पूरी तरह से काम कर रहा था अंत में उसने यह भी लिखा कि उसे अब पत्नी को निर्वाह व्यय देना है बच्चे के लिए सार्थन राशि देनी है और ना जाने कितने मेडिकल बिल चुकाने हैं इसलिए वह ब्लू रिबन की दीर्घकालीन संभावनाओं को जानना चाहता था मैं भविष्य को कैसे देखता हूँ मैंने झूठ नहीं बताया शायद सहानुभूति रखते हुए जॉनसन के प्लास्टर में बंधे शरीर की एकाकी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जो खुद और अपनी कंपनी को जीवित रखने की जिंदा दिल कोशिश कर रहा था मैंने उत्साही अंदाज में जवाब दिया मैंने कहा कि ब्लू रिबन कई वर्षों में लोकप्रिय खेल वस्तु कंपनी बन जाएगी हमारे ऑफिस शायद बेस्ट कोस्ट पर होंगे और एक दिन शायद जापान में भी मैंने लिखा दूर की कौड़ी लगती है लेकिन ऐसी दिखती है कि इस पर निशाना लगाया जा सकता है आखिरी पंक्ति पूरी तरह सच थी यह निशाना लगाने लायक थी अगर ब्लू रिबन दिवालिया हो जाती तो मेरे पास एक भी थैला नहीं रहता और मैं फुटपाथ पर पहुंच जाता लेकिन मेरे पास कुछ मूल्यवान बुद्धिमता भी होती जिसका इस्तेमाल मैं अपने अगले व्यवसाय में कर सकता था बुद्धिमता एक मूर्त संपत्ति दिखाती है लेकिन फिर भी एक संपत्ति तो थी जो जोखिम को तर्कसंगत साबित करती थी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना एकमात्र चीज़ थी जिसकी तुलना में मुझे जीवन की बाकी जोखिम विवाह वेगास घड़ियाँ से कुश्ती गोंड देखने लगे लेकिन मेरी उम्मीद यह थी कि अगर मुझे असफल होना ही था तो मैं जल्दी से जल्दी असफल हो जाऊं ताकि मेरे पास अपनी असफलता से सीखे सबकों पर अमल करने के लिए पर्याप्त समय रहे पर्याप्त वर्ष रहे मैं लक्ष्य तय करने के मामले में बहुत कुशल नहीं था लेकिन यह लक्ष्य हर दिन मेरे दिमाग में कोनता रहा और एक तरह से मेरा अंदरूनी गान बन गया तेजी से असफल हो जाओ अंत में मैंने जॉनसन को बताया कि अगर वह जून 3250 जोड़ी टाइगर शूज बेचता है जो मेरी गणना के आधार पर पूरी तरह असंभव दिखता है तो मैं उसे वह रिटेलर आउटलेट खोलने के लिए अधिकृत कर दूंगा जिसे लेकर वह मुझे लगातार तंग कर रहा था मैंने नीचे एक पुनाशत भी लिखा जिसके बारे में मैं जानता था कि वह मिठाई की तरह चटकारे लेकर उसका स्वाद लेगा मैंने उसे याद दिलाया कि वह वह इतने ज़्यादा जूते बेच रहा था इतनी ज़्यादा तेज़ी से बेच रहा था कि उसे आयकर देने के सिलसिले में किसी अपार्टमेंट से बात करनी पड़ सकती है उसने आयकर वाली सलाह के लिए ताना मारते हुए तुरंत धन्यवाद दिया वह टैक्स नहीं देगा उसने कहा क्योंकि कुल आमदनी 1209 डॉलर थी जबकि कुल व्यय 1245 डॉलर था उसका पैर टूटा था उसका दिल टूटा था और उसने मुझे बताया कि वह बिल्कुल संभला हुआ है उसने अंत में लिखा कृपया उत्साह बढ़ाने वाले शब्द लिखें मैंने नहीं लिखे किसी तरह जॉनसन जादुई संख्या तक पहुंच गया जून के अंत तक उसने 3250 जोड़ी टाइगर बेच दिए और वह ठीक भी हो गया और वह मुझे अपना वादा निभाने के लिए उकसा रहा था श्रम दिवस से पहले उसने संता मोनिक में 3107 पाइको वर्ल्ड वर्ल्ड में एक छोटी दुकान ली और हमारा पहला रिटेलर स्टोर खोल दिया फिर वह उस स्टोर को खिलाड़ियों का मंदिर बनाने में जुट गया दौड़ने वालों का पवित्र स्थल उसने वे सबसे आरामदेह कुर्सी खरीदी जो वह खरीद सकता था और जिनका वह खर्च उठा सकता था और उसने धावकों के बैठने तथा बातचीत करने के लिए एक सुंदर जगह तैयार की उसने शेल्फ बनाए और उन पर पुस्तकें रख दी जो हर दौड़ने वाले को पढ़नी चाहिए थी जिसने उसे कई तो उसकी खुद की लाइब्रेरी के पहले संग्रहण थे उसने दीवारों पर टाइगर पहने धावकों की तस्वीरें लगा दी और सामने सिल्क की टी शर्ट भी थी जिन पर टाइगर लिखा था और जिन्हें वह अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहक को बांटता था उसने एक काली पुती दीवार पर टाइगर लगा दिया और छत की खाली जगह पर बल्बों की पट्टी से उसे रोशन भी कर दिया बहुत ही शानदार बहुत आधुनिक पूरी दुनिया में धावकों के लिए ऐसा शोरूम कभी तैयार ही नहीं किया गया था एक ऐसी जगह जो न केवल धावकों को जूते बेचती थी तथा उनके जूतों का जश्न भी मनाती थी धावकों के महत्वाकांक्षी धर्म गुरु जॉनसन के पास अब आखिरकार उस, उसका चर्च था यह आराधना का समय सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ से शाम छः बजे तक जब उसने मुझे स्टोर के बारे में पहली बार लिखा तो मैंने उन मंदिरों के बारे में सोचा जो मैंने एशिया में देखे थे और मैं यह देखने के लिए बेताब था कि जॉनसन का मंदिर उनकी तुलना में कैसा था लेकिन समय नहीं था पाइस वाटर हाउस में लंबी नौकरी थी हैज के साथ शराब खाने में इतना सारा समय चला जाता था रातों और वीकेंड को ब्लू रिबन संबंधी छुटपुट चीजें संभालने में वक्त निकल जाता था और हर महीने सेना के काम में मेरे चौदह घंटे चले जाते थे इसलिए समय की भारी किल्लत थी फिर जॉनसन ने एक भयंकर पत्र लिखा और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था मैं विमान में बैठ गया जॉनसन के पत्रमित ग्राहक अब सैकड़ों की तादाद में हो गए थे और उनमें से एक लॉन्स आइलैंड के हाई स्कूल में पढ़ता था उसने जॉनसन को पत्र लिखा और अनजाने में ही परेशान करने वाली खबर बता दी उस लड़के ने बताया कि उसके ट्रैक कोच हाल ही में एक नए सूत्र से टाइगर जूते लेने के बारे में बता रहे थे वैली स्ट्रीम या मेसा फेका या मैंस हैट के किसी कुश्ती कोच से मालवर्गो मैन लौट आया था उसने ट्रैक एंड फील्ड के एक अंक में एक राष्ट्रीय विज्ञापन भी दिया जब जॉनसन मॉलवेगर मैन के इलाके में शिकार करने में व्यस्त था तो मॉलवेगर मैन हमारे शिकार का शिकार कर रहा था जॉनसन ने ज़मीन तैयार करने का सारा अद्भुत काम किया था उसने यह विशाल ग्राहक आधार बनाया था उसने अपने विकल्प और अनपढ़ मार्केटिंग के जरिए टाइगर जूते का प्रचार किया था और वह अब मॉल वर्गर मैन आकर एक एक झटके में इसका लाभ लेने वाला था मुझे नहीं पता था मैं लॉस एंजलिस जाने वाले अगले विमान पर क्यों चढ़ा मैं फ़ोन भी कर सकता था शायद जॉनसन के ग्राहक की तरह ही मुझे भी समुदाय के एहसास की ज़रूरत थी भले ही यह सिर्फ दो लोगों का समुदाय ही क्यों नहीं हो सबसे पहले तो हम समुद्र पर दूर तक दौड़े मानो हम खुद को सजा दे रहे हों फिर हमने एक पिज्जा खरीदा और उसे लेकर अपार्टमेंट में गए जो सामान्य तलाकशुदा आदमी का कमरा लग रहा था छोटा अंधेरे में डूबा कम सामान वाला इससे मुझे कोई हॉलेटो की याद आ गई जिसमें बहुत कम सामान रहता था और जहाँ मैं संसार की यात्रा के दौरान ठहरा था जाहिर है जॉनसन के कुछ स्पष्ट चिन्ह भी थे जैसे जूते हर जगह थे मैं सोचता था कि मेरा अपार्टमेंट जूतों से भरा है लेकिन जॉनसन तो एक तरह से दौड़ने वाले जूते के भीतर रहता था हर कोने में दरार में हर सतह के दौड़ने वाले जूते फैले हुए थे और इससे भी ज्यादा दौड़ने वाले जूते ऐसे थे जो विखंडन की किसी अवस्था में थे जिन कोनों और दरारों से जूते नहीं समा सकते थे वहाँ किताबें भरी थी जिनका ढेर घर पर बनाए बुक शेल यानी अनपढ़ लकड़ी की पट्टियों पर लगा था और जॉनसन बेकार किताबें नहीं पढ़ता था उससे संग्रह में दर्शन धर्म समाज शास्त्र मनोवैज्ञानिक और पाश्चात्य शास्त्र के अमर ग्रंथ थे मैं सोचता था कि मुझे पढ़ने से प्रेम है जॉनसन मुझसे अगले स्तर पर था मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने प्रभावित किया वह अजीब सी बैंगनी रोशनी थी जो पूरी जगह पर भरी थी यह रोशनी पिचहत्तर गैलर के नमकीन पानी के फिश टैंक से आ रही थी सोफे पर मेरे लिए जगह साफ करने के बाद जॉनसन ने टैंक को थपथपाया और स्पष्ट किया ज़्यादातर नए तलाकशुदा आदमी बार में भटकना पसंद करते लेकिन जॉनसन रात को सील बीच बांध के नीचे मडराता था और दुर्लभ मछलियों की तलाश करता था वह उन्हें स्पल गैन जैसी किसी चीज में पकड़ता था जिससे उसने मेरी नाक के नीचे लगाया यह शुरुआती वैग्यू क्लीनर के नमूने जैसा दिख रहा था मैंने सोचा कि यह कैसे काम करता है वह इस नली को उथले पानी में डाल दो उसने कहा और मछली को प्लास्टिक ट्यूब में अंदर खींच लो और फिर एक छोटे चैम्बर में फिर उसे अपनी बाल्टी में डाल लो और फिर घर ले जाओ उसने बहुत तरह के शानदार जीव अश्विन ओपन आई मछली इकट्ठी करने में कामयाबी पाई थी जिन्हें उसने मुझे गर्व से दिखाया उसने अपने संग्रह की सबसे शानदार चीज़ दिखाई एक नन्ना ऑक्टोपस जिसका नाम उसने स्ट्रेच रखा था जॉनसन ने कहा इससे मुझे याद आया इसे खिलाने का समय हो गया है उसने कागज के एक थैले में हाथ डालकर एक जीवित केकड़ा बाहर निकाला चलो स्टैच उसने कहा और टैंक के ऊपर केकड़े को हिलाया ऑक्टोपस हिला तक नहीं जॉनसन ने केकड़े को नीचे किया उस, उसके पैर छटपटा रहे थे और उसे टैंक के बालू वाले फर्श पर टिका दिया अब भी स्ट्रेच ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की मैंने पूछा वह मर तो नहीं गया जॉनसन बोला देखते रहो केकड़ा दाएं बाएं नाचता रहा वह दहशत में था और सुरक्षा की जगह खोज रहा था लेकिन वहाँ सुरक्षा की कोई जगह नहीं थी और स्ट्रेच यह बात जानता था कुछ मिनट बाद स्ट्रेच के नीचे वाले हिस्से से कोई चीज बाहर निकली एंटीना या तंतु यह केकड़े के तरफ गई और उसने और उसकी पीठ को हल्के से थपथपाया यूहू स्ट्रेच ने केकड़े में जहर भर दिया जॉनसन ने कहा और किसी गवीले डैडी की तरह मुस्कुराया हमने देखा कि केकड़े ने धीरे धीरे नाचना बंद कर दिया फिर उसका हिलना पूरी तरह बंद हो गया हमने देखा कि स्ट्रेच ने नरमी से अपने एंटीना तंतु केकड़े के चारों ओर लपेटे और उसने अपनी मंद की तरफ खींचा एक छेद जो उसने एक बड़े पत्थर के नीचे रेत में खोता था यह एक अस्वस्थ प्रदर्शन था एक स्याही काबुली नाटक था जिसमें एक बुद्धिहीन शिकार था और दूसरा अति शक्तिशाली शिकारी था क्या यह हमारी वर्तमान स्थिति की उपमा थी यह संकेत था एक जीवित चीज दूसरी जीवित चीज को खा रही थी प्रकृतिक निर्मम होती है और मैं यह सोचे बिना नहीं रह पाया कि क्या यह ब्लू रिबन और मालवेरगो मैन की कहानी भी होने वाली थी हमने बाकी शाम जॉनसन की किचन टेबल पर बैठकर बिताई और उसके लॉन्ग आइलैंड के खबरी के पत्र पर बातचीत की उस, उसने उसे जोर से पढ़ा और फिर मैंने उसे खामोशी से पढ़ा और फिर हमने वाद विवाद किया क्या करना है जापान जाओ जॉनसन ने कहा क्या तुम्हें जापान जाना होगा उसने कहा उन्हें बताओ कि हमने कितना कुछ किया अपने अधिकारियों की मांग की इस मालवेरगो मैन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो अगर वह एक बार दौड़ने वाले जूते बेचने लगे अगर वह एक बार सचमुच तय में आ गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता यह तो अभी रेत पर एक लकीर खींच दो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा मैंने कहा मैं कुछ समय पहले ही तो जापान से लौटा हूँ और मेरे पास दोबारा जाने के लिए पैसे नहीं हैं मैंने अपनी सारी बचत ब्लू रेबन में डाल दी थी और मैं वैलेंस से एक और कर्ज नहीं मांग सकता इसके अलावा मेरे पास समय भी नहीं है प्राइस वक्टर हाउस साल के दो सप्ताह के बैक वेकेशन की अनुमति देती थी जब तक कि आपको सेना के लिए काम उन दो सप्तों की जरूरत नहीं हो जो मुझे थी तब वे आपको एक अतिरिक्त सप्ताह देते थे जिसका मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका था उससे बढ़कर मैंने जॉनसन से कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा अनुतिक्षा के साथ मालवर्गो मैन का संबंध मुझसे पहले से है इस बात से आप प्रभावित जॉनसन ने अपना टाइपराइटर बाहर निकाला वही वाला टाइपराइटर जिस पर पत्र लिखकर वह मुझे सताता था उसने नोट्स विचार सूचियाँ बनाई जिन्हें हम एक घोषणा पत्र में बदल सकते थे जो मैं अनुतिक्षा के साथ अधिकारियों को दूंगा जब स्टैच ने केकड़ को पूरा खत्म किया तब हमने अपना पिज्जा खाया बियर पी और रात में देर तक योजनाएं बनाई अगली शाम ऑर्गेन लौटकर मैं सीधे प्राइवेट वॉक्टर हाउस में ऑफिस मैनेजर से मिलने गया मैंने कहा मुझे दो सप्ताह की छुट्टी चाहिए तुरंत उसने अपनी डेस्क के कागजों से नज़र उठाई और मुझे घूर कर देखा एक पल तो मुझे यह लगा कि वह मुझे नौकरी से निकाल देगा इसके बजाय उसने अपना गला साफ किया और कोई अजीब सी चीज़ बुदबुदाई मैं हर शब्द को नहीं समझ पाया लेकिन वह कुछ सोच रहा था मैं एक कदम पीछे हटा और विरोध करने लगा लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने अपना मुंह बंद कर लिया वह आदमी जो चाहे वह सोचे बशर्ते वह मुझे छुट्टी दे दे अपने पतले वालों पर हाथ फिराते हुए उसने आखिरकार आह भरी और कहा जाओ शुभ यात्रा उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा मैंने हवाई टिकट का किराया क्रेडिट कार्ड से चुकाया बारह महीने में भुगतान करना था और जापान में मेरी पिछली यात्रा के विपरीत इस बार मैंने पहले से तार भेज दिया था मैंने अनुतिक्षा के अधिकारियों को बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ और मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ उन्होंने भी तार भेज कर कहा कहा आ जाओ लेकिन उनके तार में लिखा था कि मैं इस बार मैरी मोटो से नहीं मिलूंगा उस, उसे या तो नौकरी से निकाल दिया गया था या वह मर गया था तार में कहा गया था कि यह एक नया निर्यात मैनेजर आ गया है उसका नाम किटामी था यह पहले भी हो चुका था एक बार फिर मैंने खुद को जापान की ओर जाने वाले विमान पर चढ़ते पाया एक बार फिर मैंने खुद को how to business with the Japanese की अपनी प्रति को रेखांतित करते हुए और रटते पाया एक बार फिर मैंने खुद को कोबे की ट्रेन में चढ़ते न्यूपोर्ट में ठहरते और अपने कमरे में टहलते पाया आखिरी पल मैंने अनुतक्षा जाने के लिए एक कैब कर ली मुझे उम्मीद थी कि हम पुराने कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे लेकिन नहीं उन्होंने मेरी पिछली यात्रा के बाद थोड़ी नई साज सज्जा कर ली थी नया कॉन्फ्रेंस रूम उन्होंने कहा यह ज़्यादा शानदार था ज़्यादा बड़ा था इसमें कपड़े की पुरानी कुर्सियों के बजाय लेदर की कुर्सियाँ थीं उसकी टेबल भी ज़्यादा लंबी थी ज़्यादा प्रभावशाली थी लेकिन कम प्रचलित मैं पद से भटका हुआ था और भयभीत महसूस करने लगा यह तो वैसा ही था आप ऑर्गन स्टेट की प्रतिस्पर्धा की तैयारी और आखिरी मिनट आपको यह पता चले कि उसे अब लॉस एंजलिस मेमोरियल स्टेडियम में कराया जा रहा था एक आदमी कॉन्फ्रेंस रूम में आया और उसने अपना हाथ बढ़ाया किटामी उसके काले जूते पर चमकदार पॉलिश थी उसके बालों पर भी उतनी ही चमकदार पॉलिश थी बिल्कुल काले पीछे की तरफ बिल्कुल सीधे खड़े हुए एक भी बाल अपनी जगह से दूर नहीं वह मोरिमोटामा के काफ़ी विपरीत था जिन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि वे आँख पर पट्टी बांधकर तैयार होते हों किटामी की चमक दमक मुझे पसंद नहीं आई लेकिन अचानक उसने मुझे एक गर्मजोशी भरी तैयार मुस्कान दी उसने मुझे बैठकर आरामदेह होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं क्यों आया था और अब मुझे यह स्पष्ट एहसास हुआ कि उसकी सजावटी हुलिये के बावजूद उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था आखिर वह एक बिल्कुल नई नौकरी में था उसके पास अब तक ज़्यादा इक्विटी नहीं थी यह शब्द मेरे दिमाग में कौन गया मुझे यह भी लग रहा था कि किटामी के लिए मैं बहुत मूल्यवान था मैं ज़्यादा बड़ा ग्राहक तो नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था बेचने की जगह बहुत मायने रखती है मैं अमेरिका में जूते बेच रहा था एक ऐसा बाजार जो अनुतुक्सा के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था शायद बस शायद किटामी मुझे भी गंवाना नहीं चाहेगा शायद मुझे वह तब तक अटकाए रखना चाहे जब तक कि वह पूरी तरह से मालवेयर मैन तक रूपांतर नहीं कर ले उस पल में एक संपत्ति था मैं एक क्रेडिट था जिसका मतलब था कि मेरे पास मेरी सोच से ज्यादा अच्छे पत्ते थे किटामी अपने पहले वाले से ज्यादा अंग्रेजी बोला लेकिन ज्यादा भारी लिहाजे में मेरे कानों को तालमेल बैठने में कुछ मिनट लग गए जब हमने मेरी विमान यात्रा मौसम बिक्री आदि पर बातचीत की इस पूरे समय वाली एग्जीक्यूटिव कमरे में आते जा रहे थे और कॉन्फ्रेंस टेबल पर हमारे साथ बैठते जा रहे थे आखिरकार किटामी पीछे टिक गया हाय उसने इंतजार किया मैंने पूछा मी अनुतुक्सा उन्होंने कहा मी अनुतुक्सा आज हमारे साथ नहीं बैठ पाएंगे मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे अपने प्रति मी अनुतुक्सा के स्नेह का लाभ मिलेगा ववरमैन के साथ उनके जुड़ाव का भी लेकिन नहीं मैं अकेला था मेरा कोई समर्थक नहीं था कॉन्फ्रेंस रूम भी अपरिचित था लेकिन उनमें से किसी चीज की चिंता नहीं करते हुए मैं कूद पड़ा मैंने किटामी और बाकी अधिकारियों को बताया कि ब्लू रिबन ने अब तक काफ़ी सराहनीय काम किया है हमने हर ऑर्डर पूरा बेचा था साथ ही हमने एक मजबूत ग्राहक आधार बनाया था और हमें उम्मीद थी कि यह ठोस विकास आगे भी जारी रहेगा 1966 में हमने 44,000 डॉलर की बिक्री की थी 1967 में हमने 84,000 डॉलर की बिक्री का अनुमान लगाया था मैंने सांता मॉर्निंग अमेरिका में हमारे नए स्टोर का वर्णन किया और बाकी स्पोर्ट्स की योजना बताई एक सुनहरे भविष्य की फिर मैं झुका मैंने कहा हम टाइगर्स की ट्रेड एंड फील्ड लाइन के लिए एकमात्र अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे और मैं सोचता हूँ कि हमें एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर बनना टाइगर के हित में भी होगा मैंने मॉल वर्गो मैन का जिक्र तक नहीं किया मैंने टेबल पर चारों ओर देखा ग्रिम चेहरे लेकिन टिकामी के चेहरे से ज़्यादा गंभीर किसी का नहीं था उसने कुछ संचित शब्दों में कहा यह संभव नहीं है अनुतक्षा किसी ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा स्थापित कंपनी को अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहती थी जो काम का बोझ संभाल ले एक ऐसी कंपनी जिसका ऑफिस ईस्ट कोस्ट पर हो लेकिन लेकिन मैंने तपत से कहा ब्लू रिबन का ईस्ट कोस्ट पर ऑफिस है किटामी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका ओ हाँ मैंने कहा हम ईस्ट कोस्ट पर हैं वेस्ट कोस्ट पर हैं और जल्द ही हम मिड वेस्ट में भी होंगे इस मामले में कोई सवाल या शंका नहीं है कि हम राष्ट्रीय वितरण संभाल सकते हैं मैंने टेबल पर चारों ओर देखा अब गंभीर चेहरे कम गंभीर हो रहे थे अच्छा किटामी ने कहा उस उससे स्थिति बदल जाती है उसने मुझे आश्वस्त किया कि वह मेरे प्रस्ताव पर सावधानी से विचार करेगा हाय मीटिंग खत्म हो गई मैं पैदल चलकर अपने होटल पहुंचा और टहलने में दूसरी रात गुजरी अगली सुबह सबसे पहले एक फोन आया मैं अनुतुक्सा पहुंचूं जहां किटामी ने मुझे अमेरिका के संपूर्ण वितरण अधिकार दे दिए अनुतुक्सा ने मुझे तीन तीन साल का अनुमंदन दिया मैं जब कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा था और पाँच हजार जूते का ऑर्डर दे रहा था तो मैंने तत्स्तर देखने की कोशिश की इन जूतों के बदले मुझे बीस हजार डॉलर देने थे जो मेरे पास नहीं थे किटामी ने कहा कि वह इन जूतों को मेरे ईस्ट कोस्ट ऑफिस के पते पर भेजेगा और वह भी मेरे पास नहीं था मैंने वादा किया कि ऑफिस का सटीक पता मैं उसे तार से भेज दूंगा लौटते समय मैंने विमान की खिड़की के प्रशांत महासागर के ऊपर के बादलों को देखा और मुझे माउंट फ्यूजी पर बैठने की याद आ गई मैं यह सोचने लगा कि उस विजय के सारा मेरे बारे में क्या सोचती मैंने सोचा मॉल वर्गर मैन कैसा महसूस करेगा जब उसे अनुतक्षा से यह खबर मिलेगी कि उसका खेल खराब हो गया है मैंने how to do business with the Japanese की अपनी प्रति दूर रखा मेरे बैग में स्मृतियां वस्तुएं भरी थीं माँ और बहनों तथा मॉम हेल्डफील्ड के लिए किमोनो अपनी डेस्क के ऊपर लटकने के लिए छोटी समुराई तलवार और मेरी सबसे शानदार चीज एक छोटा सा जापानी टीवी मैंने मुस्कुराते हुए सोचा युद्ध के पुरस्कार लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर कहीं पर भी मेरी विजय का पूरा वजन मुझे समझ में आया मैंने वैलेंस का चेहरा देखने की कल्पना की जब मैं उसे बताऊंगा कि वह इस विशाल नए ऑर्डर के लिए पैसे दे अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा दूसरी तरफ अगर उसने हाँ किया तो मैं ईस्ट कोस्ट पर ऑफिस कैसे खोलने वाला हूँ और मैं उन जूतों के आने से पहले मैं यहाँ काम करने वाला हूँ और मैं इसे चलाने के लिए कैसे भेजने वाला हूँ मैंने तिरछे चमकते क्षितिज को देखा पूरी धरती पर एक ही इंसान था जो जड़ों से पर्याप्त रहित एक वही थी जो इंसान ऊर्जावान था इतना उत्साही था इतना दीवाना था कि वह पल भर में अपनी जगह बदलकर ईस्ट कोस्ट पर रहने लगे और जूतों के पहुंचने से पहले वहां पहुंच गए मैंने सोचा कि स्टेच को अटलांटिक महासागर कितना पसंद आएगा 1967 काम अच्छी तरह नहीं किया बिल्कुल अच्छी तरह नहीं मैं जानता था कि जॉनसन की प्रतिक्रिया क्या होगी इसलिए मुझे दहशत हो रही थी कि मैंने जॉनसन को पूरी कहानी नहीं बताई मैंने फटाफट एक नोट लिखकर बताया कि अनुतुक्सा के साथ मीटिंग अच्छी रही और मुझे राष्ट्र वितरण अधिकार मिल गए लेकिन मैंने उसके आगे उसे कुछ नहीं बताया मैं सोच सकता था कि मेरे दिमाग कि किसी कोने में यह उम्मीद रही होगी कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नौकरी पर रखकर ईस्ट कोस्ट पर भेज दूं या फिर यह कि वैलेंस पूरी तरह योजना के पर खच्चे उड़ा देगा और वास्तव में मैंने किसी और को नियुक्त भी किया जाहिर है यह नया बंदा भी लंबी दौड़ का पूर्वक धावक होगा लेकिन ईस्ट कोस्ट पर जाने के लिए हाँ करने के लिए कुछ दिनों बाद उसने अपना इरादा बदल दिया और पीछे हट गया इस तरह मैं कुटित हो गया और भटक गया मैं तनाव और टालमोल के चक्र में उलझ गया इसलिए मैंने इस ज़्यादा आसान समस्या पर ध्यान केंद्रित किया कि ऐसा कौन है जिसे मैं सांता मोनिक के स्टोर में जॉनसन की जगह पर भेज सकूं। मैंने लॉस एंजलिस में हाई स्कूल के ट्रैक कोच जॉन वर्ग से पूछा जो एक मित्र के मित्र इस प्रस्ताव पर वे उछल पड़े वे इतने ज्यादा उत्सुक थे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था मुझे कैसे पता चला कि वे इतने ज़्यादा उत्सुक होंगे अगली सुबह ही वे जॉनसन के स्टोर में धमक पड़े और उन्होंने गर्व से यह ऐलान कर दिया कि वे नए बॉस हैं जॉनसन ने पूछा नए क्या वॉर्ग ने कहा चूँकि तुम्हें ईस्ट कोस्ट पर जाना है इसलिए मुझे तुम्हारे बदले यहाँ काम के लिए नियुक्त किया गया है मुझे कब कहाँ जाना है जॉनसन ने कहा और फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया मैं वह बातचीत भी अच्छी तरह नहीं संभाल पाया मैंने जॉनसन से कहा कि हाँ हाँ अरे मैं बस तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था मैंने कहा कि मुझे अफसोस था कि उसे इस तरह यह खबर सुननी पड़ी और यह कितनी बुरी बात है मैंने स्पष्ट किया कि मुझे अनुतक्षा से मजबूरन झूठ बोलना पड़ा था और मैंने यह दावा किया था कि हमारा ईस्ट कोस्ट पर एक ऑफिस पहले से ही है इस तरह हम भारी मुश्किल में थे जूते जल्दी ही रवाना हो जाएंगे न्यूयॉर्क के लिए जूतों का बड़ा शिपमेंट आने वाला है और जॉनसन को छोड़कर कोई भी उन जूतों पर दावा करने या वहाँ एक ऑफिस खोलने का काम नहीं संभाल सकता ब्लू रिबन का भाग्य उसके कंधों पर था जॉनसन हक्का बक्का हो गया वह आग बबूला हुआ और फिर फट पड़ा यह सब कुछ मिनटों के भीतर हुआ तब मैं एक हवाई जहाज में बैठा और उड़कर उसके स्टोर में पहुंचा उसने मुझे बताया ईस्ट कोस्ट पर नहीं रहना चाहता उसे कैलिफोर्निया से प्रेम था वह पूरी ज़िंदगी कैलिफोर्निया में रहा था वह कैलिफोर्निया में पूरे साल दौड़ने जा सकता था और जैसा मैं जानता था और दौड़ना जॉनसन के लिए सब कुछ था वह पूर्व के कड़े जोड़ों में कैसे दौड़ेगा तुरंत उसका अंदाज बदल गया हम उसके स्टोर के बीच में खड़े हुए थे जो उसका बनाया जूतों का मंदिर था एक हल्की सी बुदबुदाहट से उसने स्वीकार किया कि यह ब्लू जीवन के लिए करो या मरो वाला पल था जिसे उसका भारी निवेश या वित्तीय दृष्टि से भावनात्मक दृष्टि से आत्मदिकता दृष्टि से उसने स्वीकार किया कि ईस्ट कोस्ट में ऑफिस जमाने वाला दूसरा कोई नहीं था उसने एक लंबा अर्थ आंतरिक एकालप शुरू कर दिया और कहा कि सांता मोनिक्स का स्टोर एक तरह से अपने आप चलता है इसलिए वह एक दिन में अपने स्थानतन को परीक्षित कर सकता है इसके अलावा वह एक दिन पहले ही दूर दराज की जगह पर स्टोर बना चुका है इसलिए वह उसे दोबारा तेजी से कर सकता है और हमें यह काम तेजी से करने की ज़रूरत थी क्योंकि जूते रवाना हो चुके थे और नया शैक्षिक वर्ष शुरू होने के बाद के ऑर्डर आने वाले थे फिर हम फिर उसने दीवारों से यह जूते से या भगवान से पूछा कि उस बस चुप होकर वह क्यों नहीं करना चाहिए मैं जो मैंने कहा और अपने घुटनों पर उस भारी अवसर के लिए कृत क्यों नहीं होना चाहिए जबकि कोई भी देख सकता था कि वह उनसे सटीक शब्दों की तलाश की गुणनीय इंसान था मैं इस तरह की बात कह सकता हूँ ओ नहीं तुम गुणनीय नहीं हो खुद पर इतने कठोर मत बनो मैं कह सकता था लेकिन मैंने नहीं कहा मैंने अपने मुंह बंद रखा और इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा ठीक है आखिरकार उसने कहा मैं चला जाऊंगा बेहतरीन यह बेहतरीन शानदार आपको धन्यवाद लेकिन कहाँ कहाँ क्या आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं ओ हाँ देखो ईस्ट कोस्ट में किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ बंदाग्रह हो बस पॉलेट मत जाना क्यों दो अलग अलग पॉलेट में एक ही कंपनी स्थित होंगी तो इससे जापानी दुविधा में पड़ जाएंगे हमने थोड़ी देर मशक्क़त की और आखिरकार निर्णय लिया कि न्यूयॉर्क और बॉस्टन सबसे तार्किक जगह हैं खास तौर पर बॉस्टन हम में से एक ने कहा वहीं से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं ठीक है उसने कहा बॉस्टन में आ रहा हूँ फिर मैंने उसे बॉस्टन के यात्रा वर्षण थमाए जिनमें शरद ऋतु में पत्तियों के गिरने के सुंदर फोटो को खास उबारा गया था यह थोड़ा संवेदनशील हो सकता था लेकिन मैं उतावला था उसने पूछा कि मेरे पास यह वॉशर कैसे आए उस पर मैंने उसे बताया कि मैं जानता था कि वह सही निर्णय लेगा वह हंस दिया जॉनसन ने मुझे जिस तरह क्षमा किया उसने जिस अच्छे स्वभाव का प्रदर्शन किया उससे मैं कृतज्ञ से भर गया और उस आदमी के प्रति मेरे मन में एक नया स्नेह उत्पन्न हुआ और शायद ज़्यादा वफादारी भी उसके साथ मैंने जो व्यवहार किया उस पर मुझे अफसोस हुआ और उन पत्रों का भी जिनका मैंने जवाब नहीं दिया मैंने सोचा कि टीम खिलाड़ी निचली श्रेणियों में आते हैं जबकि जॉनसन शिखर वाली श्रेणियों में आता है और फिर उसने छोड़ने की धमकी दी जाहिर है पत्र के जरिए मैं सोचता था कि मैं उस सफलता के जिम्मेदार हूँ जो हमें अब तक मिली उसने लिखा और उस सफलता के लिए भी जो अगले दो साल तक मिलेगी इसलिए उसने मुझे दो खंडों में अपनी अंतिम शर्त रखी उसे ब्लू रिबन में फुल पार्टनर बना लूँ उसका वेतन बढ़ाकर 600 डॉलर प्रति माह कर दूं साथ ही पहले 6000 जोड़ी बिके जूते के बाद उसे सारे मुनाफे का एक तिहाई हिस्सा दूं वरना उसने कहा अलविदा मैंने वॉरमैन को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि पूर्वकालिक कर्मचारी नंबर वन बगावत कर रहा है वॉरमैन ने शांति से सुना सभी पहलुओं पर विचार किया सकारात्मक और नकारात्मक बातों को तोला फिर अपना फैसला सुना दिया उसे भाड़ में जाने दो मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि उसे भाड़ में जाने दो सर्वश्रेष्ठ रणनीति शायद जॉनसन को संतुष्ट करने का कोई मध्यम मार्ग हो और उसे कंपनी में हिस्सेदारी देने का कोई मध्यम मार्ग हो लेकिन जब हमने इस बारे में ज़्यादा विस्तार से बात की तो हम सहमत नहीं थे ना तो वॉरमैन ना ही मैं अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहते थे इसलिए अगर मैं जॉनसन की धमकी स्वीकार भी करना चाहता तब भी यह संभव नहीं था मैं पालो ऑल्टो गया जहाँ जॉनसन अपने माता पिता के घर रुका था और मैंने मीटिंग का आग्रह किया जॉनसन ने कहा कि वह अपने माता पिता ओवन को भी इस मीटिंग में लेकर आएगा मीटिंग मीटिंग ओवन के ऑफिस में हुई और मैं पिता पुत्र की समानताएं देखकर दंग रह गया वे ऐसे देखते थे एक जैसी आवाज थी यहाँ तक कि व्यवहार के कई तरीके तरीके एक ही थे लेकिन सामान्यतः बस सामान्यतः यहीं पर ख़त्म होती हैं शुरुआत से ही ओवन जोर से बोल रहे थे और आक्रामक थे और मैं समझ गया कि इस बगावत के पीछे उन्हीं का हाथ था ओवन एक सेल्समैन थे वे डिक्टोफोन जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग उपकरण बेचते थे वे उससे बहुत निपुण थे इसके लिए जैसा कि ज़्यादातर सेल्स पीएल के मामले में होता है जीवन एक लंबी सौदेबाजी थी जिससे उन्हें आनंद आता था दूसरे शब्दों में वे पूरी तरह से अपने विपरीत थे थे मैंने सोचा लो यह भी होना था एक माहिर सौदेबाज के साथ पेंटी शूट आउट कर यह कब खत्म होगा मुद्दे की बात पर आने से पहले ओवन मुझे ये कहानी सुनाना चाहते थे कि सेल्स पीपल हमेशा ऐसे ही करते हैं उन्हें कहा चूंकि मैं अकाउंटेंट हूँ इसलिए उन्हें एक अकाउंटेंट की याद आ गई जिससे वे हाल में मिले थे जिसकी ग्राहक एक टॉपलेस डांसर थी यह कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती थी कि क्या डांसर के सेल्समैन इम्पेक्ट्स पर हुई खर्च को आयात के उद्देश्य कटौती योग व्याय माना जा सकता है या नहीं अंतिम पंक्ति में वे विनम्रता दिखाने के लिए हंसा और फिर अपनी कुर्सी के हाथों को जकड़ लिया और इंतजार किया कि ओवन हंसना बंद करें और अपनी शुरुआती चाल चलें उन्होंने शुरुआत में वे सारी चीज़ें बताई जो उनके बेटे ने ब्लू रिबन के लिए की उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका बेटा ही मुख्य कारण था जिस वजह से ब्लू रिबन मौजूद थी मैंने सिर हिलाया उन्होंने उनकी बात पूरी कर दी और जॉनसन के साथ आंख मिलाने की इच्छा का प्रतिरोधन किया जो बगल में बैठा हुआ था मैंने सोचा कि क्या उन्होंने मिलकर इन बातों की रिहर्सल की थी जिस तरह जॉनसन और मैंने मेरी पिछली जापान यात्रा से पहले अपने प्रस्ताव की रिहर्सल की थी ओवन ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि तथ्य को देखते हुए उनके बेटे को स्पष्ट रूप से ब्लू रिबन का पूर्ण साझेदार बनना चाहिए मैंने अपना गला साफ किया और यह स्वीकार किया कि जॉनसन एक जबरदस्त सेल्समैन था कि उसकी मेहनत अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य थी मामलों की सच्चाई यह है कि हमारे पास चालीस हजार डॉलर की बिक्री है और कर्ज उससे भी ज़्यादा इसलिए यहाँ पर बांटने के लिए कुछ नहीं है हम उस केक के टुकड़े करने के लिए लड़ रहे थे जो मौजूद ही नहीं है यही नहीं मैंने ओवन को बताया कि गवर्नमेंट ब्लू रिबन में अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करना चाहते इसलिए मैं अपनी हिस्सेदारी भी कम नहीं कर सकता अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा उस चीज़ पर से बहुसंख्यक नियंत्रण खत्म हो जाएगा जिससे मैंने बनाई थी यह व्यवहारिक नहीं था मैंने अपने विपरीत प्रस्ताव रखा मैं जॉनसन का वेतन पचास डॉलर बढ़ा दूंगा ओवन ने घूरा और घूरने का अंदाजा खुकार और कठोर था जिससे कई गहन सौदेबाजियों में तराशा गया था इस अंदाज में घूरने के बाद उनके बहुत सारे डिक्टोफोन बिके थे वे इंतजार कर रहे थे कि मैं झुक जाऊं अपनी पेशकश को बढ़ाऊं लेकिन जीवन में इस एक बार मेरा पलड़ा भारी था क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था इसे ले लो या छोड़ दो बहुत शक्तिशाली शब्द होते हैं इनसे जीत पाना मुश्किल होता है आखिरकार ओवन अपने बेटे की ओर मुड़े मैं सोचता हूँ कि शुरुआत से ही हम दोनों जानते थे कि जॉनसन ही इस मामले को सुलझाएगा मैंने जॉनसन के चेहरे पर देखा दो विपरीत इच्छाएं साफ झलक रही थी और आपस में जूझ रही थी वह मेरी पेशकश को स्वीकार नहीं करना चाहता था लेकिन वह छोड़ना भी नहीं चाहता था वह ब्लू रिबन से प्रेम करता था उसे ब्लू रिबन की ज़रूरत थी उसे ब्लू रिबन संसार में ऐसी जगह दिखती थी जहाँ वह फिट होता हो जहाँ वह कंपनी जगत के उस दलदल से बच सकता है जिसने हमारे ज़्यादातर स्कूली साथियों और मित्रों को हमारी ज़्यादातर पीढ़ी को निगल लिया उसने मेरे संवाद के अभाव की ओर लाखों बार शिकायत की थी लेकिन वास्तव में मेरी पूर्ण स्वतंत्रता की प्रबंधन शैली से उसे राहत मिली और वह स्वतंत्र भी महसूस करता था इस तरह की सवैकता उसे किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती थी कुछ सेकंडों बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया उसने कहा सौदा पक्का मैंने उसे हाथ मिलाते हुए कहा सौदा पक्का हमने छः मील दौड़कर अपने नए अनुबंधन पर मोहर लगाई जैसा मुझे याद है मैं जीता था जॉनसन ईस्ट कोस्ट पर पहुंचा था और वर्क ने जॉनसन का स्टोर संभाल लिया था इसलिए अब मेरे पास बहुत से कर्मचारी हो गए थे और फिर बबरमैन ने मुझे फ़ोन करके एक और कर्मचारी बढ़ाने को कहा उसका पूर्व का धावक साथी जेफ हॉलिस्टर मैं हॉलिस्टर को एक हैमबर्गर के लिए बाहर ले आया और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर पाया कि इस लंच भुगतान के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उन्होंने इस सौदे को पक्का कर दिया इसलिए मैंने उन्हें नियुक्त कर लिया और पूर्वकालिक कर्मचारी नंबर तीन बना दिया जिसका काम राज्य भर में टाइगर बेचना था जल्दी बवर मैंने ने एक बार फिर फोन किया वे चाहते थे कि मैं एक और व्यक्ति को नौ नौकरी पर रख लूँ चंद महीनों की अवधि में मेरे स्टॉक को चार गुना करना क्या मेरे पुराने कोच यह मानकर चल रहे थे कि मैं जनरल मोट्स कंपनी का मालिक हूँ मैं प्रतिरोध करने ही वाला था लेकिन तभी वर्नमैन ने उस इंसान का नाम बताया वॉब वुडेल जाहिर है मैं नाम जानता था ऑर्गन में हर कोई जानता था वुडेल वर्नमैन की उन्नीस की टीम के असाधारण खिलाड़ी थे वे सितारे तो नहीं थे लेकिन वे लगनशील और परेक प्रतिस्पर्धी थे जब ऑर्गन तीन साल में दूसरी राष्ट्र राष्ट्रीय चैंपियनशिप की रक्षा कर रही थी तो वुडेल ना जाने कहां से आए और विजेता की दावेदार दिख रही यूसीएल के खिलाफ लंबी कूद जीत ली मैं वहां पर था मैंने उन्हें यह करते हुए देखा और मैं बेहद प्रभावित हुआ था अगले दिन टीवी पर एक बुलेटिन आया ऑर्गेन के मदर डे जलसे में एक दुर्घटना हो गई थी वुडेल और उनकी तीस बंधु एक डोंगे को तेज धारा पर चढ़ा रहे थे जो कैंपस को घेरे हुए थे वे वे इसे सही करने की कोशिश कर रहे थे तभी किसी का पैर फिसल गया फिर किसी का संतुलन बिगड़ गया किसी ने छोड़ दिया कोई चीखा हर व्यक्ति दौड़ा डोंगा फिर गिर गया और वडेल उसके नीचे दब गई जिससे उनकी निचली रीढ़ की लंबार विकटा चकनाचूर हो गई उनके दोबारा पैदल चलने की बहुत ही कम उम्मीद थी मैन ने वुडेल के चिकित्सीय खर्च के लिए चंदा इकट्ठा करने की योजना बनाई और वॉर्डर फील्ड पर एक स्पर्धा आयोजित की जब उनके सामने वुडेल को नौकरी दिलाने की समस्या थी उन्होंने कहा कि वर्तमान में वह अपने माता पिता के घर पर एक व्हीलचेयर पर बैठा रहता है और दीवारों को घूरता रहता है वुडेल ने वोवरमैन के असिस्टेंट बनने के बारे में हल्की पूछताछ की थी लेकिन वोवरमैन ने मुझे कहा मैं नहीं सोचता कि यह कारगर होगा शायद वह ब्लू रिबन के लिए कुछ कर सकता है मैंने फ़ोन रख दिया और वुडेल को फ़ोन लगाया मैं यह कहने वाला था कि मुझे उसकी दुर्घटना के बारे में बहुत अफसोस था लेकिन मैंने खुद को रोक लिया मुझे पक्का नहीं था कि यह कहने की सही बात थी मैंने मन में आधा दर्जन दूसरी बात भी गुमड़ रही थी जो इतनी ही गलत दिख रही थी मुझे कभी सही शब्द खोजने में इतनी मुश्किल नहीं आई थी जबकि मैंने अपना आधा जीवन खामोश रहकर बिताया कोई उस मशहूर धावक से क्यों कहे जो अचानक अपने पैर भी नहीं हिला सकता मैंने उस पूरी तरह कारोबारी रखने का निर्णय लिया मैंने स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट ने वोडेल की सिफारिश की थी और मैं उन्हें अपनी नई जूता कंपनी में नौकरी दूं मैंने लंच पर मिलने का सुझाव दिया पक्का उन्होंने कहा अगले दिन हम पॉलेट के उत्तर में स्थित वेटर नगर उपनगर की सैंडविच शॉप में गए वहाँ खुद कार चलाकर आए थे वे हाथ के नियंत्रण वाली मर्गी काउवर की खास कार में महारत हासिल कर चुके थे वास्तव में वह जल्दी पहुंच गए मैं पंद्रह मिनट देर से पहुंचा अगर वे अपनी व्हीलचेयर में नहीं होते तो क्या पता मैं वुडेल को अंदर घुसते ही पहचान पाता या नहीं हालांकि मैंने उन्हें एक बार आमने सामने देखा था और कई बार टीवी पर देखा था लेकिन उनके कई संघर्षों और ऑपरेशनों के बाद इतने दुबले हो चुके थे कि उन्हें देखकर सदमा लग लगता था उनका वजन 60 पौंड कम हो गया था और उनकी स्वाभाविक रूप से पहनी मुख्य कृति अब ज़्यादा पहनी हो गई थी बहरहाल उनके बाल बिल्कुल काले थे और अब भी उल्लेखनीय रूप से कैसे हुए धुंधले थे वे हमीजे की किसी प्रतिमा जैसे दिख रहे थे जिस जिसे मैंने ग्रीस में कहीं पर देखा था उनकी आंखें भी काली थी और उनमें लोहे की चमक थी चतुराई थी शायद दुख भी ये आंखें जॉनसन के विपरीत नहीं थीं चाहे यह जो भी भाव था ये मंत्रमुग्ध करने वाला था मुझे देर से आने पर अफसोस हुआ लंच एक तरह से इंटरव्यू जैसा था लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि इंटरव्यू वाला हिस्सा केवल एक औपचारिक था ऑर्गन के लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं सौभाग्य से इस वफादारी के अलावा हम दोनों की पटरी तुरंत बैठ गई हमने एक दूसरे को हंसाया खास तौर पर बवरमैन के बारे में हमने याद किया कि वे किन तरीकों से दौड़ने वाले को यातना देते थे पकड़ रूप से दंडता बढ़ाने के लिए जैसे किसी चाबी को स्टोर में गर्म करना और साना यानी वाश कक्ष में उनकी धुली त्वचा पर उसे दबाना हम दोनों ही उसके शिकार हो चुके थे कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि अगर वुडेल अजनबी भी होते तब भी मैं उन्हें नौकरी दे देता खुशी खुशी वे मेरी तरह के इंसान थे मुझे पक्का नहीं था कि ब्लू रिबन क्या थी क्या यह कभी कुछ बन पाएगी लेकिन यह जो भी था यह जो भी बन सकती थी मुझे उम्मीद थी कि उसमें उस आदमी का जज्बा है मैंने यूजीन में कैंपस के बाहर अपना दूसरा रिटेल स्टोर खोलने की नौकरी दी मैंने 400 डॉलर के मानसिक वेतन का प्रस्ताव दिया ईश्वर का शुक्र है उन्होंने सौदेबाजी नहीं की अगर वे हर महीने के चार हजार भी मांगते तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता पक्का मैंने कहा पक्का वे बोले उन्होंने आगे हाथ बढ़ाकर मुझे हाथ मिलाया उनमें अब भी खिलाड़ियों जैसी मजबूत पकड़ थी वेटर चेक लेकर आई और मैंने वुडोल को शान से बताया कि लंच मेरी तरफ से मैंने अपना पर्स बाहर निकाला और पाया कि यह खाली है मैंने ब्लू रिबन के पूर्वकालिक कर्मचारी नंबर चार से कहा कि वह मुझे सारा दे वेतन के दिन तक जब ओवरमैन मेरे पास नए कर्मचारी नहीं भेजते थे तो वह मुझे अपने नवीनतम प्रयोगों के परिणाम भेजते थे 1966 में उन्होंने गौर किया स्प्रिंग ऐप के बाहरी सोल वटर की तरह पिघल जाते हैं जबकि बीच वाला सोल ठोस हो जाता है इसलिए उन्होंने अनुतक्षा से आग्रह किया कि अगर ये प्रिंस ऐप के बिस्टोल को लिम्बर ऐप के बाहरी सोल से मिला दें तो दूर की दौड़ का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण जूता तैयार हो जाएगा अब 1967 में अनुतिक्सा ने हमें इसका नमूना भेजा और यह आश्चर्यजनक था उसकी शानदार गद्दी और उसकी रोशनी लकीरों के साथ यह भविष्य जैसा दिख रहा था अनुतिक्सा ने पूछा कि हमारे हिसाब से इसका क्या नाम होना चाहिए बवरमैन ने एचटेक नाम दिया 1968 में ओलंपिक्स के सामान में जो मैक्सिको सिटी में आयोजित होने वाला था मुझे भी यह नाम पसंद था अच्छी बात है अनुतिक्षा ने कहा एजेक्ट का जन्म हो गया था फिर एडिडास ने हम पर दावा ठोकने की धमकी दी एडिडास का एक पहले से ही नया जूता जिसका नाम एजेक्टा गोल्ड था यह स्पाइन जूता था जिससे वह उसी ओलंपिक में उतारने की योजना बना रहे थे किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना था लेकिन फिर भी एडिडास बात का बतंगड़ बना चुके थे विचलित होकर मैं उस पर बातचीत करने के लिए बवरमैन के घर गया पहाड़ के ऊपर हम चौड़े पोर्च पर बैठकर नदी को देखते रहे उस दिन यह सफ़ेद फीते जैसी चमक रही थी उन्होंने अपनी बेसबॉल कैप उतारी दोबारा पहनी और फिर अपना चेहरा मला वह वह बंदा कौन था जिसने एजेक्ट को मटियामोल कर दिया मैंने जवाब दिया कॉल्टेज उन्होंने हुकार भरी ठीक है तो उसका नाम क्या कार्टज रख दे मुझे एडिडास के अवध नफरत होने लगी थी यह जर्मन कंपनी को दो दशकों से जूता बाजार पर कब्जा जमाए बैठी थी और इसमें प्रोविक्ट का सारा दंग था जिसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी जाहिर है संभव है इससे बिल्कुल भी दंग नहीं है लेकिन खुद को प्रेरित करने के लिए मुझे इसे किसी राक्षस की तरह देखने की जरूरत थी चाहे जो हो मैं एडिडास से नफरत करता था मैं हर दिन उससे अपने से इतनी ज़्यादा आगे देख देखते देखते थक चुका था मैं इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हमेशा यही देखना मेरे भाग्य में बदा था इस स्थिति से मुझे जिम ग्रिल याद आ गया हाई स्कूल में ग्रिल जिसका उच्चारण कई बार ग्रेन या कई बार तो गोरिल्ला किया गया था ऑर्गन का सबसे तेज धावक था और मैं दूसरे नंबर का सबसे तेज धावक जिसका मतलब था कि मैंने चार साल एक ग्रेल की पीठ देखी थी फिर ग्रेल और मैं दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्गन गए जहां मुझ पर उसकी तानाशाही जारी रही जब मैं स्नातक हुआ तो मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि अब मुझे ग्रिल की पीठ कभी नहीं देखनी पड़ेगी बरसों बाद जब ग्रिल ने मॉस्को के लेनिन स्टेडियम में 1500 मीटर की दौड़ जीती तो मैं सेना के यूनिफॉर्म में था और पोस्ट लुक के डी रूम के एक सोफे पर बैठा था मैंने स्क्रीन की तरफ अपनी मुट्ठी लहराई और अपने साथी ऑर्गनवासी पर गर्व किया लेकिन मैं उस वक्त को याद करके थोड़ा शर्मा भी गया जब वह जब वह मुझसे आगे रहा था जब मैं एडिडास को दूसरा ग्रिल मानने लगा उसका पीछा करने और कानून रोकने जाने में बुरी तरह चिढ़ रहा था इससे मुझे प्रेरित भी किया बहुत ज़्यादा एक बार फिर एक श्रेष्ठ विरोधी से आगे निकलने कि मेरे जुनूनी प्रयास मेरे पास मेरे कोच वोवरमैन का सहारा था एक दिन फिर वे हर वह चीज कर रहे थे जो वे मुझे जिताने के लिए कर सकते थे मैं अक्सर दौड़ने से पहले ही उनकी पुरानी प्रेरणादायी चर्चों की याद करता था खास तो कट्टर प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेल रहे होते हैं मैंने ववरमैन के धुंधिया भाषण को याद किया जब उन्होंने बताया कि ऑर्गन स्टेट सिर्फ विरोधी ही नहीं यूएससी और केल को हराना महत्वपूर्ण था उन्होंने कहा लेकिन ऑर्गन टेस्ट को हराना अलग बात है लगभग साठ साल बाद भी उन्होंने शब्दों और उनके लिहाजों को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हालांकि वे कभी अपनी आवाज़ ऊँची नहीं रखते थे लेकिन कोई भी अपना खून वॉरमैन की तरह नहीं खोलता था वे जानते थे कि अंतर्मन तक पहुँचने वाले खास सुर बोलना है कैसे चतुराई से विस्मदी बोधक चिन्हों को अंतर डालना है त्वचा पर गर्म चाबियों की तरह आंतरिक प्रेरणा के लिए मैं एक बार फिर उसी घटना के बारे में सोचता हूँ जब ओवरमैन लॉकर रूम में आकर टीम के खिलाड़ियों को नए जूते थमाते थे जब वे मेरे पास आए तो मुझे तो यह भी पक्का नहीं था कि मुझे टीम में शामिल किया भी गया है या नहीं मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था जिसे अब तक आजमाया नहीं गया था जो भी हो विकास कर रहा था लेकिन उन्होंने मेरे सीने में स्पाइस वाले एक नए जूते बैठा दिए उन्होंने कहा नाइट बस इतना ही बस मेरा नाम एक ही शब्द ज़्यादा नहीं मैंने जूतों को देखा मैं ऑर्गन जैसे हारे थे जिन्होंने पीली धारियाँ थी सबसे शानदार चीज़ जो मैंने कभी देखी थी मैंने उन्हें गोद में लिया और इसके बाद उन्हें हटाकर अपने कमरे के पीछे ले गया और अपने बुक केस के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर सावधानी से रख दिया मुझे याद है कि मैं अपने हस्कंड जैसे डेस्क लैंप से उन्हें बार बार निहारता रहता था जाहिर है वे एडिडास थे 1967 के अंत तक वोवरमैन मेरे अलावा कई लोगों को प्रेरित कर रहे थे जॉगिंग की वह पुस्तक जिसके बारे में उन्होंने बात की थी वह मुक्तपूर्ण पुस्तक अब पूरी हो गई थी और वह बुक स्टोर में पहुंच गई थी सौ पेज की पतली किताब जॉगिंग नामक यह पुस्तक उस देश को शारीरिक व्यायाम का धर्म संकेत दे रही थी जिसे यह उद्देश्य पहले भी नहीं सुना होगा यह एक ऐसा देश जो सामयिक रूप से सोफे पर पसरा रहता है और न जाने कैसे यह पुस्तक जंगल की आग की तरह लोकप्रिय हो गई इसी इसकी दस लाख प्रतिक्रिया बिक्री जिससे एक मुहिम छिड़ गई थी और दौड़ने शब्द का ही अर्थ बदल गया था कुछ ही लोग में ववरमैन और उनकी पुस्तक बदौल दौड़ना अब केवल विचरित लोगों का ही काम नहीं रह गया था अब यह एक पंथ तथा सीमित नहीं रह गया था यह तो एक तरह से फैशनेबल हो गया था मुझे उनके लिए खुशी थी ब्लू रिबन के लिए भी उनकी बेस्ट सेलर बुक निश्चित रूप से हमारे जूतों का प्रचार करेगी और हमारी बिक्री बढ़ा देगी फिर मैंने बैठकर पूरी पुस्तक पढ़ी मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई उचित उपकरणों पर बातचीत करते समय ववरमैन ने कुछ सामान्य सलाह दी जिसके बाद मुझे चौंकाने वाली सलाह मिली पिंडली के बारे में बात करते समय उन्होंने कहा कि सही जूते महत्वपूर्ण हैं लेकिन लगभग कोई भी जूता सही रहे शायद ऐप वाबनी के लिए यह घर के काम करते समय जो जूते पहनते हैं वे भी इतने ही अच्छे रहेंगे क्या कामकाजी कपड़ों के बारे में वर्मैन ने पाठकों को बताया कि उचित पोशाक से जज्बे में मदद मिल सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को ब्रांड पर ज़्यादा आकर्षित नहीं रहना चाहिए शायद यह प्रशिक्षण धावक बाजार कभी कभार की जॉगिंग करने बारे में सच थे लेकिन उन्हें यह पुस्तक मैं कहने की ज़रूरत क्या थी वह भी तब जब हमने अपने ब्रांड को स्थापित करने के लिए जूझ रहे थे ज़्यादा प्रसंगित बात यह थी कि उसका ब्लू रिबन और मेरे बारे में उनकी सच्ची राह के बारे में क्या मतलब था कोई भी जूता सही रहेगा अगर ये सच है तो फिर हम टाइगर जूते बेचने की जहमत क्यों उठा रहे थे फिर हम गधे की तरह इधर उधर क्यों घूम रहे थे वैसे तो मैं एडिडास का पीछा कर रहा था लेकिन एक तरह से मैं अब भी ववरमैन का पीछा कर रहा था उनके अनुमोदक की तलाश कर रहा था और हमेशा की तरह 1967 के अंत में भी यही संभव नहीं लग रहा था कि मैं इन दोनों में से किसी को भी पछाड़ पाऊंगा वोवरमैन ने कॉटेज को इस बात का काफ़ी श्रेय जाता है कि हमने वहाँ साल धमाके के साथ ख़त्म किया और अच्छी आमदनी की हमने उपेक्षा पूरी 84,000 डॉलर में फर्स्ट नेशनल की अपनी अगली यात्रा की तरह से राह देखने लगे आखिरकार वेलेस पीछे हट जाएंगे और फर्श की चैन ढीली कर देंगे शायद वे विकास के महत्व को स्वीकार कर लेंगे इस दौरान ब्लू रिबन मेरे अपार्टमेंट से आगे फैल चुकी थी शायद यह कहना ज़्यादा सटीक होगा उनसे अतिक्रम कर लिया था अब यह जगह वी जॉनसन के बैचलर निवास स्थल जैसी दिखने लगी थी बस एक बेगानी रोशनी और नन्हे ऑक्टोपस की कमी थी मैं अब भी यह काम नहीं टाल सकता था मुझे एक अच्छे ऑफिस की ज़रूरत थी इसलिए मैंने कस्बे के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा कमरा किराए पर लिया यह काफ़ी नहीं था एक पुरानी वर्कशॉप जिसमें एक अच्छी छत और अच्छी खिड़कियां जिनमें से कई टूटी हुई थी और बंद हो रही थी इसका मतलब था कि कमरे का तापमान लगातार पचास डिग्री के आसपास रहता था इससे ठीक बगल में एक शोर शराबे भरा शराब खाना था जिस जिसका नाम पिंक बकेट था वह हर दिन लगभग शाम चार बजे से संगीत बजाने लगता था दीवारें इतनी पतली थीं कि आप अगले रिकॉर्ड को रखे जाने की आवाज़ सुन सकते थे और इसके बाद के हर गूंजते स्वर को आप यह तक सुन सकते थे कि लोग माचिस जला रहे हैं सिगरेट सुलगा रहे हैं और गिलास टकरा रहे हैं लेकिन किराया कम था महीने के पचास डॉलर जब मैं वुडेल को इसे दिखाने ले गया तो उन्होंने कहा कि इससे निश्चित आकर्षक था यह जरूरी था कि यह जगह वुडेल को पसंद हो क्योंकि मैं यूजीन स्टोर से उनका उस ऑफिस को तबादला कर रहा था उन्होंने स्टोर में जबरदस्त योग्यताएं दिखाई थी असीम ऊर्जा के साथ व्यवस्था को हुनर दिखाया था लेकिन मैं उस जगह पर उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकता था जिसे मैं होम ऑफिस कहने वाला था निश्चित रूप से पहले ही दिन उन्होंने अटकी खिलाड़ियों को समाधान खोज लिया वे अपना एक पूरा वॉलिस ले आए जिनसे हमने खिलाड़ियों के कुंदे सीधे किए और उन्हें दगाकर बंद किया हम बाकी खिलाड़ियों में टूटे कोच की मरम्मत का खर्च नहीं उठा सकते थे इसलिए कड़ाके की ठंड वाले दिनों में हम बस स्वेटर पहना सकते थे इस दौरान कमरे के बीच में मैंने फ्लाईवुड की एक दीवार खड़ी कर दी इस तरह पीछे की तरफ वायर हाउस की जगह निकलने आई और सामने रिटेल ऑफिस की मैं दोनों मैं हाथों के काम से ज़्यादा निपुण नहीं था और फर्श पूरी तरह विकृत था इसलिए दीवार ना तो सीधी थी ना ही समतल दस फुट दूर से यह लहरदार दिखाई दे रही थी लेकिन वुडेल और मैंने यह निर्णय लिया कि यह एक तरह से शानदार थी ऑफिस थिक स्टोर से हमने तीन खटारा डेस्क खरीदी और मेरे लिए एक वुडेल के लिए और अगली उस इंसान के लिए जो हमारी खातिर काम करने लायक हो मैंने वॉर्ड की एक दीवार भी बनाई जिस पर मैंने टाइगर के अलग अलग मॉडल चिपका दिए जाहिर है यह मैंने साता मोनसिका में जॉनसन के सजावटी विचारों का उधार लिया था दूर कोने में मैंने बैठने की एक छोटी सी जगह भी तैयार की जहां बैठकर ग्राहक अपने जूते आजमा सकते हैं पहले ही दिन शाम छः बजने से पाँच मिनट पहले हाई स्कूल का एक लड़का अंदर आया उसने कहा कि उस, उसे दौड़ने के कुछ जूते चाहिए वुडोल और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा फिर घड़ी की तरफ हम थक गए थे लेकिन हमें हर बिक्री की ज़रूरत थी हमने लड़के के उसके नाप उसके डग की लंबाई उसके जीवन के बारे में बातचीत की और उसे कुछ जोड़ियाँ दिखाई उसने लेस बांधने कमरे में टहलने में अपना समय निकाल दिया और हर जोड़ी के बाद उसने घोषणा की कि यह पूरी तरह सही नहीं है शाम सात बजे उसने कहा कि वह घर जाकर इसके बारे में सोचेगा वह चला गया उसके जाने के बाद बुडोल और मैं ढेर सारी खाली बक्सों तथा बिखरे हुए जूतों के ढेर में बीच बैठे थे मैंने उनकी तरफ देखा उन्होंने मेरी तरफ क्या हम इसी तरह एक जूता कंपनी बनाने वाले हैं जब मैं धीरे धीरे अपनी इन्वेंट्री अपने अपार्टमेंट से नए ऑफिस में ला रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि ज़्यादा साझेदारी इसी में होगी कि अपार्टमेंट को पूरी तरह से छोड़ दूँ और ऑफिस में जाकर रहने लगूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर समय तो वैसे भी वहीं रहूँगा जब मैं प्राइस वक्टर हाउस में नहीं रहता था किराए की जुगाड़ नहीं कर रहा था तो मैं ब्लू रिबन में ही रहता था और उसका विपरीत भी था मैं जिम में शावर भी ले सकता था लेकिन मैंने खुद से कहा कि अपने ऑफिस में केवल सन की आदमी ही रहता है और फिर मुझे जॉनसन का पत्र मिला जिसमें उसने बताया कि वह अपने नए ऑफिस में रह रहा था उसने हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफिस वेल्सी में खोलने का चुनाव किया था जो बॉस्टन का एक फैशनेबल व दौलतमंद उपनगर था जाहिर है उसने हाथ से बनाए नक्शा भी साथ में भेजा था और एक स्केच भी और उससे ज़्यादा जानकारी भी जिसकी ज़रूरत मुझे वेल्सी के इतिहास भौगोलिक स्थिति और मौसम के बारे में जानने की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके अलावा उसने मुझे यह भी बताया कि उसे कैसे चुना था पहले पहल तो उसने लॉन्स आइलैंड न्यूयॉर्क के बारे में विचार किया वहाँ पहुँचने के बाद वह उस हाई स्कूल के लड़कों से मिला जिनसे उसे मॉल मैन के खुफिया षड्यंत्रों की चेतावनी थी वह बड़ा लड़का जॉनसन को पूरी तरह घुमाने ले गया और जॉनसन लॉन्स आइलैंड की झलक देखकर ही समझ गया कि यह जगह उसे क्रास नहीं आएगी उसने हाई स्कूल के लड़के से विदा ली और आई नाइन्टी फाइव पर उत्तर दिशा में बढ़ा और जब वह वेल्सी पहुंचा तो यह जगह उसे तुरंत रास आ गई उसने लोगों को साफ सुथरी देहाती सड़कों पर दौड़ते देखा जिसमें से कई महिलाएं भी थीं और कुछ आदमी अली मोर्गो जैसे दिख रहे थे अली मोर्गो जॉनसन जैसा ही था उसे याद था कि अली मोर्गो वेल्सी कॉलेज में पढ़ता था फिर उसे पता चला या याद आया कि वोस्टन मैराथन का मार्ग इस कस्बे के ठीक बीच से होकर गुजरता है इरादा पक्का उसने अपना कार्ड कैटलॉग खगाला और उसे एक स्थानीय ग्राहक का पता मिल गया यह ग्राहक हाई स्कूल का सितारा खिलाड़ी था वह लड़के के घर पहुंचा और बिना किसी पूर्व सूचना के दरवाज़ा खटखटा दिया वह लड़का तो वहाँ नहीं था लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि जॉनसन का स्वागत है वह अंदर बैठकर इंतजार कर सकता है जब लड़का घर लौटा तो उसने पाया कि उसका जूतों का सेल्समैन डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठकर पूरे परिवार के साथ खाना खा रहा है अगले दिन जब वे दोनों दौड़ने गए तो उसके बाद जॉनसन ने लड़के से नामों की सूची बनवाई स्थानीय कोच संभवित ग्राहक संभव संपर्क और उसकी सूची कि उसे कौन से इलाके पसंद आ सकते हैं कुछ ही दिनों के भीतर उसे अत्योष्टिक पार्लर के पीछे एक छोटा मकान मिल गया और उसने उसे किराए पर ले लिया वह 200 डॉलर के किराए में मुझे आधा चाहता था पुनः पश्चात उसने कहा कि मुझे उसके लिए फर्नीचर भी खरीदना चाहिए मैंने जवाब में नहीं कहा